بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة وطوى المختصر على مقدمة وثلاثة فنون इससे पिछले सबक के अंदर वसमैतु तलखीस मफ्ताह से बतलाया था इस किताब का नाम जो मुख्तर का मदन है का नाम है तलखीस मफ्ताह इसका तलखीस मफ्ताह नाम क्यों रखा था था कि चूँकि ये मफ्ताहलूम की शराह है मफ्ताहलूम की तलखीस मफ्ताहलूम की तलखीस है इस वजह से मफ्ताहलूम की तलखीस और उसका मुख्तर होने की वजह से इसका नाम तलखीस मफ्ताह रख दिया गया फिर उसके बाद बतलाया था कि यहाँ असल्लाह इसमें अना ज़मीर जो मुसनद इले है इसको मुकदम किया मुकदम इसलिए किया क्योंकि वाव हाल के लिए था वाव को बगैर ज़मीर लगाए हालिया बनाते व असल्लाह तो इस तरह वाव हालिया नहीं बनता काम परेशानी हुआ हमारी देखो तो, तो यहाँ पर अना इस जमीर को बीच में लेकर आए थे असरुल्लाह से पहले अगर से उसके अंदर भी मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ मैं के माना खुद ब खुद मौजूद थे लेकिन अना ज़मीर अलग से इसलिए लेकर आए ताकि वाव को वाव हालिया करार दिया जा सके फिर इसी तरह आगे हसबी के बारे में फरमाया था वह हसबी व न्याम वकील के वन्यामल वकील का अर्थ वहुआ हसबी पर है या फिर वहुअल वन्यामल वकील का अर्थ हसबी पर है जब हसबी पर अर्थ होगा तो क्या हो जाएगा वहुआ न्यामल वकील और वो बेहतरीन कारसाद है फिर इस पर इसकाल हुआ था कि हुआ न्यामल वकीलू न्यामा है फैल फैल मता और अलवकील क्या है इसका और आगे क्या है हजबी हाँ हुआ हुआ न्याम वकील तो हुआ जो है यह मखसूस मखसूस बिलमदा ठीक है तो यह मखसूस बिलमदा और मखसूस बिलमदा जो होता है वो तो बाद में हुआ करता है यहाँ पर पहले के आ रहा है तो इसका जवाब दिया था क्या कि साहिब तलखी मिफ्ता ने ऐसा ही जिक्र किया है इन्होंने अपना दामन झाड़ दिया और उनकी तरफ बात को मंसूब कर दिया अब देखो मुकदमातुन मुकदमातुन मुसनफ कहते हैं रत सारे कहते हैं रतबल मुख्तसर अला मुकदमतिन वसलासती फनून मुख्तसर को मुरतब किया एक मुकदमे पर और तीन फनून पर मुकदमे एक मुकदमे पर और तीन फनून पर मुकदमा तो ये हो गया और तीन फनून वो आ जाएंगे फन अव्वल इल्म मानी और फन सानी इल्म बयान और इल्म गदीब तो ये तीन फनून आ जाएंगे इसकी वजह हसर आगे इबारत के अंदर बयान फरमा रहे हैं لأنه المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا इसलिए के जो इसके अंदर यानी मुख्तसर में जिक्र किया गया है इसलिए के जो मुख्तसर में जिक्र किया गया है उसकी दो हालतें या तो ये है कि वो मकासद इस फन में मकासद के कबील से है इस फन में मकासद के कबील से होगा अवला यह मकासद के कबील से नहीं होगा इसके अंदर जो जिक्र की गई है बातें वो है दो कबील से या तो मकासद के कबील से बातें होंगी या फिर मकासद के कबील से नहीं होंगी असानी अलमुकदमतु दूसरा यानी जो मकासद के कबील से बातें नहीं है वो क्या है मुकदमा है अलअल पहला क्या जो मकासद के कबील से हैं इनकान गर्ज मिनहुल पहला अगर उससे मकसद उससे गर्ज मान मुरादी को अदा करने में गलती से बचना है मान मुरादी को अदा करने में गलती से बचना है फ़ल फ़न अव्वल तो वो फ़न अव्वल है यानी इल्म मानी इल्म मानी से क्या होता है इल्म मानी के ज़रिए से इंसान जो मान मुरादी हैं यानी जिन माना को वो मुराद ले रहा है उन माना को अदा करने में गलती से बच जाता है जो इल्म मानी को जानता होगा तो वो मान मुरादी को अदा करने में गलती से बच जाएगा तो पहला अगर उसकी गर्ज मान मुरादी को अदा करने से गलती से बचना है तो वो फन अव्वल है यानी इल्म मानी है वल्ला और अगर ऐसा नहीं है यानी मान मुरादी को अदा करने में गलती से बचना नहीं है तो फिर दूसरी दूसरी गर्ज होगी फ़ैन कानल गर्ज मिनतराज़ अनिल अनिल ताक़ीद मानवी फ़हियल फन वरना देखो व जब इल्ला से पहले वाव आ जाए तो फिर ये हर्फ इस्तना नहीं होता बल्कि इसकी असल होती है व इन ला और अगर नहीं व इन ला और अगर नहीं यानी अगर ऐसा नहीं तो फिर बात नहीं है व इल्ला उसकी दलील आगे भी है फा इन इन हरफ शर्त है आगे फा दाखिल हो गया वरना तो पस अगर मकसद उससे ताकीद मानवी से बचना हो तो वो फन सानी है ताकद मानवी से किस चीज़ के ज़रिए हिफाजत होती है अरे किस चीज़ से बच जाएगा इल्म बयान इल्म बयान को जानता होगा तो ताकीद मानवी से बच जाएगा ताक़ीद मानवी का मतलब अंदरूनी पेचीदगियाँ जो इबारत के अंदर जाया करती हैं वह इल्ला और अगर ये भी नहीं और अगर ऐसा भी नहीं वरना तो फल फन दालिस वो फन दालिस तो यहाँ पर सबसे पहले ये बयान किया कि अगर मकासद के कबील से हो मकासद के कबील से होगा या मकासद के कबील से नहीं होगा अगर मकासद के कबील से नहीं है तो मुकदमा है और अगर पहला है यानी मकासद के कबील से है तो उससे मकसद अगर मान मुरादी में गलती से अदा करने में गलती से बचना है तो करने अव्वल है और अगर उससे मकसद ताकिद मानवी से बचना है तो वो करने सानी है और अगर ये नहीं है तो फिर वो करने सालिस से और फरल सालिस का अंदर महसना से लफ्जिया व मानविया वगैरह आते हैं इनमें बजी यहाँ तक बात समझ में आई वजालतिमती खारिजतुनाफन सालिसी वाह कामानुबीन इनशा दालकातमत खारिजत अनिल तालिब की यहाँ पर ये एक इसकाल का और एक वहम का जवाब देना चाह रहे हैं पंद्रह नंबर का है यहाँ पर एक वहम हुआ है कुछ लोगों को और वहम और इसकाल यह हुआ है कि आपने जो फन तालीस है हम्म, ने कहा कि आपने कहा कि ये मुख्तसर मुख्तसर को मुरतब क्या है मुकदमे पर और तीन फनून पर आखिर में खात्मा भी तो आता है आखिर में खात्मा भी तो है तो उसको भी जिक्र करना चाहिए था कि मुख्तसर को मुरतब क्या है एक मुकदमे पर और तीन फ़नून पर और एक खात्मे पर तो कहते कि ये उनका वहम है वो जो खात्मा है वो तो फन सालिस के अंदर ही दाखिल है उसी से मुतल उसके अंदर बातें हैं तो उनका ये कहना वहम है और खातिमे को फन सालिस से खारिज करना बाहर करार देना ये क्या है खारिज करार देना वहम है तो इससे क्या बात मालूम होगी कि वो फन सालिस में दाखिल है कमान उबैन इन जैसा कि हम इन ताला बयान करेंगे वलम्मा इन जर्रा कलाम की आखिरी हादिल मुकदमती इला इनसार मकसूर फ़िलफ़नून सलासती नासब जिक्र तरीक़ तारीफ़ आदि बखिलाफ़ मुकदमती यहाँ से भी एक सवाल होता है एक सवाल उठता है इसमें कि आपने मुकदमत तुन कहा नकिरा के साथ मुकदमत तुन इकलाम दाखिल नहीं किया मारफा इसको नहीं बनाया और आगे जहाँ पर आपने इन फनून सलासा को जिक्र किया है तो वहाँ जिक्र किया है अलफनुल अव्वलू इल्मानी अलफनुसानी अलिफ्लाम लगा दिया ना अलिफ्लाम तारीफ का लगा दिया है उसको मारफ बना दिया है अलफनुसानी तो इस तरह किया है तो कहते हैं कि ऐसा क्यों किया वहाँ क्या है तो फिर अलमुकदमा तो यहाँ भी इसी तरह करना चाहिए था तो इसका जवाब ये है कि अलिफ्लाम जो होता है असल है असमा के अंदर नकेरा होना और ये अलिफ्लाम होता है ये मारफा बनाते हैं और मारफे से मारफा बनाकर अलिफ्लाम को दाखिल करके इशारा होता है माकबुल जिक्र किए गए हुए उस किस्म की जानब या माकबुल में उससे मुतल कुछ बात जिक्र की गई हो उसकी जानब इशारा होता है जैसे अलफन अव्वल ये जो फ़न अव्वल है इल्म मानी इस मुकदमे के आखिर में उसका जिक्र आया है अभी उसने पढ़ा तो तलखीस मिफ्तार के अंदर देखो यहाँ आया है मुकदमे के आखिर में पहुंच जाओ यह आया था ना वमा युतराजुबी आनिल अव्वली इल्मान वो जिससे वो चीज़ के जिसके ज़रिए है पहले से यानी माने मुरादी को अदा करने में गलती से बचा जाए क्या है वो इल्मानी है ना वमा यफ्तारद भी यानी ताक़दमानवी इल्मबयान और वमा यारफू भी वजूह तहसिन इल्मबदी इन तीनों चीज़ों का जिक्र आ गया ना अगर जो सराहतन इन्होंने इस तरह नहीं कहा अलफनवलू जो इल्मानी इस तरह से लेकिन ये क्या इबारत के अंदर उसका जिक्र आ गया है इबारत के अंदर जिक्र आ गया है इसलिए जब ये आगे जिक्र कर रहे हैं अलफनवल जिक्र कर रहे हैं अलिफ्लाम ने अहद का होगा अहद खारजी का और ये मुराद होगा कि पहले इसका जिक्र आ चुका है लेकिन मुकदमा जो है मुकदमे का पहले कहीं जिक्र नहीं आया इस वजह से इसको नकीरा लेकर आए अरे समझ में जिसको फरमाते हैं वाला इन जर्रा कलाम की आखिरी आदि मुकदमा थी और जबकि उनका कलाम जारी हो गया जारी हुआ इस मुकदमे के आखिर में उन्होंने सलासा में मकसूद के मुनहसर करने की तरफ यानी इस मुकदमे का आखिर के अंदर मुसनफ़ ने तलखीस मफ्ता के मुसनफ़ ने क्या कर दिया है उनको जिक्र कर दिया है मुनहसर कर दिया है और जबकि मुसनफ़ का कलाम इस मुकदमे के आखिर में उन्होंने सलासा के अंदर मकसूद के मुनहसर करने की तरफ जारी हो गया तो अब जब जारी हो गया यानी पहले जिक्र आ चुका तो क्या मुनासिब है कि उसको अलिफ्लाम के साथ में जिक्र किया जाए नासबाजिक्रीक तारीफ तो मुनासिब हुआ उसका जिक्र करना तारीफ अहदी के तरीक़े पर तारीफ अहदी के तरीक़े पर अरे समझाई यानी उसको मारब इलाम बनाकर क्योंकि वहाँ मुराद ये हो जाएगा कि हाँ यार इफ्लाम है तो इसका मतलब इससे पहले वहाँ पर जिक्र है तो इसलिए इसका लाना ठीक है लेकिन चूंकि मुकदमे से पहले मुकदमे से पहले कहीं जिक्र नहीं आया मुकदमे का तो इसलिए इस तरह यहाँ पर भी अलीफलाम दाखिल कर दो ऐसा दुरुस्त नहीं होगा वे खिलाफ मुकदमती खिलाफ मुकदमे के मकामी इसलिए कि कोई मुख्त नहीं है कोई तकाजा करने वाली चीज़ नहीं है किस चीज़ की लिरादिया लफ्ज की मुकदमे के लफ्ज मालिका के साथ लाने की इस मकाम में इस मकाम में इस जगह में मुकदमे को लफ्ज मारिफा के साथ लाने का कोई मकसदी नहीं है कोई चीज़ तकाजा करने वाली नहीं है वहाँ तकाजा करने वाली चीज़ मौजूद है वो क्या है अलफनवल इल्मानी क्योंकि उसका जिक्र पहले आ चुका है और यहाँ पर जिक्र नहीं आया इसलिए यहाँ कोई मकोता हुई नहीं है नहीं है तो अनक करा इसलिए क्या कर दिया उसको नकीरा जिक्र कर दिया अरे आगे समझे भाई वकाला मुकदमतुन और कहा मुकदमतुन ला अल मुकदमतु ना के कहा अल मुकदमा वलखिलाफ अन्न तनवीना तकलीली अरे लिखा हुआ तकलीली हाँ, तकलीली कर लो उसको लीली एक दूसरे नुस्खे के अंदर है भी जिसके जिचावे देख लो और होना भी यही चाहिए देखो यार देख देख हारून मिया देख ले फिर भी आगे तो कहता कि हाँ दूसरे नुस्खे में है तकलील कर लो तो तकलील ऊपर करो होकर नंबर डाल के ऊपर यहाँ कर लो तकलीली लेकिन पुरानी किताबों में होएगा भी है वैसे इसमें ना होएगा हम्म। तो यहाँ पर मुसनफ़ रहमत आल इस बात को जिक्र फरमा रहे हैं कि कुछ लोगों ने इसमें भी इख्तलाफ किया है कि भाई सुन इसके अंदर जो तनवीन है ये तनवीन तनकीर के लिए है या ताजिम के लिए बाद लोगों ने कह दिया कि तन तनवीन तज़ीम के लिए है और बाद लोगों ने कह दिया कि तनवीन तनकीर के तनवीन तकलील के लिए है यानी किल्लत और कमी को बदलाने के लिए तो ताजीम जिन लोगों ने यह सोचा कि भाई ये मुकदमा बड़ी अजीम चीज़ है और इसका फ़न से बड़ा ताल्लुक़ होता है तो उन्होंने इस तरफ नज़र करते हुए कि फ़न से बड़ा ताल्लुक़ होता है तो इस वजह से उसको तनवीन को तज़ीम के लिए करार दे दिया और जिन्होंने ये देखा कि भाई छोटा सा मुकदमा है एक दो सफ़े का तलखीस में एक आध सफ़े का भी मुकदमा है तो उन्होंने क्या कह दिया उसको तनवीन तकलील के लिए कि भाई छोटा सा ये तो इसलिए तनवीन का की हुई तकलील की हुई तो ये उनकी अपनी अपनी नज़र का फ़र्क है और इख्तलाफ इस बात में कि उनकी उसकी तनवीन मुकदमे की तनवीन तज़ीम के लिए है या तकलील के लिए है मिम्मा लायम बगी अनका ये उन चीज़ों में से है जो मुनासिब नहीं है कि वो वाक़ हो मुहसिलीन हासिल करने वाले यानी तलबा के दरमियान यानी कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि भाई तनवीन तज़ीम के लिए है या तकलील के लिए है कि इसमें खाम तलबा जो है पढ़े तो पता ना काय के लिए होगी होगी होने तो जिसके लिए होगी दोनों के लिए मान लो तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मखसूस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है वाल मुकदमा तो माखूज मिन मुकदमतुल जैशी अरे मुकदमा किससे माखूज है मुकदमतुल जैश से हाँ। मुकदमत इसके लश्कर के असल में पांच हिस्से होते हैं एक दाएं एक बाएं एक पीछे एक बीच में और एक आगे दाएं वाला इसको तो शायद यमीन कहते हैं इसी मेमना मेमना बाएं वाला यसार और पीछे वाला साफ हका तो वादे वो देख तो वादे कोई सामान वामान से नहीं गिर गया बीच वाला कल्ब चूँकि कल्ब दिल बीच में होता है इसलिए उसको कल्ब कहते हैं और जो आगे होता है उसको कहते हैं मुकदमा मुकदमा तो ये मुकदमतुलजैश से माफूज है और मुकदमतुलजैश लश्कर की उस टुकड़ी को कहते हैं कि जो टुकड़ी आगे जाती है और जाकर लोगों के लिए अपने पानी वगैरह का जगह का इंतजाम करती है कहाँ ठहरना है क्या करना है हम्म। देखो वल मुकदमा तो तुम मिन मुकदमतिल जहीशी और मुकदमा यह माखूज है मुकदमतिल जैश से क्योंकि ये जो यहाँ पर किताब के अंदर आता है वो भी शुरू में आता है आगे होता है इस वजह से इसको मुकदमा कहते हैं मिल जमाती नीचे लिखा हुआ है बैन सतूर के अंदर आई अलमौजूतुलजमातिलमतकदमती मिनहा तो जमात के लिए वजह किया गया है जो उससे यानी लश्कर से आगे होती है मुकदम होती है ठीक है तो ऐसे ही ये भी मुकदम होता है इसलिए इसको भी मुकदमा कह दिया जाता है मुकदमा और मुकदमा दोनों तरह पढ़ सकते हैं मुश्तक किससे है मिन कदमा बेमाना तकदमा ये कदमा बमाना तकदमा से मुश्तक है कदमा युकदम तकदीमन इसके माना आते हैं मुकदम करना और जब इसको तफावल में ले जाएंगे तो तो माना हो जाएंगे मुकदम मुकदम होना मुकदम होना क्योंकि ये मुकदम होता है मुकदम होने वाला है तमाम किताब से इसी तरह वो लश्कर की टुकड़ी मुकदम होने वाली है सबसे इस वजह से क्या कहते हैं इस मुख, इसको मुकदमा कहते हैं मैंने उसके अंदर लिखवाया था सुल्लम के सबक के अंदर कि इसको मुकदमा से ही मान सकते हैं तो सूरत में क्या माना हो जाएंगे हाँ हैं आगे करने वाला मुकदमा आगे करने वाला क्योंकि ये अपने जानने वाले को ना जानने वाले से आगे कर देता है इसलिए इसको मुकदमा कहते हैं ठीक है من قدم بمعنى تقدم يقدم بمعنى تقدمان تقدمت هي يقال مقدمة العلم بولا جاتا ہے مقدمت العلم بما يتوقف يتوقف عليه الشروع في مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه अच्छा मुकदमतुल इल्म किसको कहते हैं हम्म? मुकदमतुल इल्म और मुकदमतुल किताब किसको कहते हैं अरे देखा होगा ना मैंने कहा था जरा देख लेना जिन पर किताब का शुरू करना मौकूफ होता है उसके मसाई के अंदर देखो यहाँ दिया भी इन्होंने जिन पर शुरू करना मौकूफ़ होता है जैसे तारीफ है इसी तरह मौजू है गर्ज वायत है उसका फ़ायदा वगैरह है तो इन पर किताब का शुरू करना मौकूफ़ होता है कि जब आदमी को तारीफ मालूम होगी मौजू मालूम होगा किस मौजू के अंदर ही किताब है और उसकी गर्ज वायत मालूम होगी क्या मकसद है क्यों पढ़ाई जा रही है और हम इस फन को क्यों हासिल कर रहे हैं उसका फ़ायदा होगा सामने तो, फिर क्या कहेगा आदमी आदमी जो है उसके अंदर जी लगाकर मेहनत करेगा तो इसलिए मुकदमतुल कहते हैं इनको जो जिन पर उसके मसाइल में शुरू होना मौकूफ हुआ करता है और उसके अंदर आती है तारीफ मौजू वजू वगैरह और मुकदमतुल किताब कहते हैं किताब के अंदर उन मकासद को जो असल मकसद से पहले लाए जाते हैं जिनका मखसूस से ताल्लुक होता है मुकदमतुल किताब उन उन मकासद और उन चीज़ों को कहते हैं उन बातों को कहते हैं जिनका असल फन से और मखसूस से ताल्लुक होता है वो उसमें मुफीद हुआ करती हैं अरे लिखवा रखा मैंने ठीक है ना किसे कहते हैं मुकदम मुकदम किताब सलेमान बोल अभी बताया मैंने तो सो रहा हूँ मुझे क्या पता लगेगा किसे कहते रिजवान है? किसे गए आराम से बैठा किससे गए आरोल उर्दू में बताओ उर्दू में हम्म। हम्म। जैसे क्या चीज आती है इसके अंदर मोहन रायल की गाड़ी खालिद साहब की साइकिल अरे कितने बताओ मैंने बता दिया किसको कहते तारीफ क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर मुकदमत में तारीफ मौजू गर्ज वायद वगैरह भी बताई तो मैंने कई मतलब तो बतला दी और मुकदमत वो बात है जो मखसूस से पहले लाई जाती है है ना और उनका मखसूस से ताल्लुक होता है वो उसके अंदर मुफीर हुआ करती है देखो देखो देखो मुकदमतमा यतवक़ आलि शुरू की मसाइली ही उन चीज़ों को कहते हैं कि जिन पर उसके मसाइल में शुरू होना मौकूफ होता है वह मुकदमतल किताब और मुकदमतल किताब लिता फ़तिम बिन कलाम ही उसके कलाम की उस टुकड़ी को कहते हैं खुदिमत अमामल मकसूरी उस टुकड़े को उस हिस्से को कहते हैं किताब के कलाम के उस हिस्से को कहते हैं जिस जो मकसूद से पहले लाया खुदिमत जिसको मुकदम किया जाता है हर एक दरवाजे को बंद कर दे जरा मिला के जरा सही से अच्छा, सही से खुदमत अमावत मकसूदी जो मकसूद से पहले लाया जाता है समझ में आ रही ना मुकदमत किताब किताब के लिताफिन उस हिस्से को कहते हैं जो कि मिन कलाम ही उसके कलाम को यानी किताब के जो कलाम है जो बात चल रही है उसके हिस्से को कहते हैं वो वाले हिस्से को खुदमत अमाब अलमकसूदी के जो मकसूद से पहले लाया जाता है लिर्तिबाती लहू बिहा उसके लहू उसके यानी चार नंबर उसके यानी मकसूद के हाँ हाँ का मतलब जो मुकदम की गई है चीज़ें है ना उसके यानी मकसूद के उन चीज़ों के साथ मुरतबित होने की वजह से ताल्लुक होने की वजह होने की वजह से या ताल्लुक होने की बिना पर वनतफाई बिहाफी और उसके साथ यानी वही मुकदम की हुई चीज़ें जो हैं उनके साथ और उनसे फी ही उसमें उसमें यानी मकसूद में इंतफा नफ़ा हासिल होने की वजह से कि उससे क्या होता है वो इसलिए होती है कि उनका ताल्लुक होता है और उनसे नफ़ा हासिल किया जाता है नफ़ा उठाया जाता है किनसे जो मुकदमतुल किताब के अंदर बातें जिक्र की गई हैं बर्तन तो बदलने ही पड़ेगा कई लोग सोचते रहते हैं अच्छा अरे यहाँ तक बात समझ में आई रहे वही हाँ होना ली लिबयान मान फसाहती वलबलागती और इसार इल्म ये इल्मी मानी इल्मी मानी वलबयानी वमा युलाम अब यहाँ से कहने चाह रहे हैं हिया जमीर का मर्जा है मुकदमा वहिया तो हा लि बयानी मानल फसाहत यहाँ जो मुकदमा है मुकदमा यहाँ फसाहत और बलागत के मानी को बयान करने के लिए है किसके लिए है फसाहत और बलागत के मानी को बयान करने के लिए और वनहिसार इलमिल बलागती और इल्म बलागत के इल्म मानी इल्म बयान और जो उसके मुनासिब यानी इल्म बदी में मुनहसर होने को बतलाने के लिए समझा जुमा यहाँ पर जो मुकदमा है वो इस बात के लिए है कि फसाहत और बलागत इनके मानी बयान कर दो और इल्म बलागत इल्म मानी इल्म बयान और इल्म बदी के अंदर क्यों मुनहसर है इल्म मानी इल्म बयान और इल्म बदी में जो है ये इल्म बलागत मुनहसर है इस बात को बदला दो उसके अंदर ये मुकदमा लाया गया है देखो तुमने दुरुसल बलागा के अंदर पढ़ा दुरुसल बलागा में क्या आता है मुकदमा आता है और उसके अंदर क्या चीज़ आती है अरे इसमें क्या आता है देखो क्या आता है मैं दिखा देता हूँ अलफसाहत आ गई ना फसाहत की तारीफ आ गई तो वसाहतुलकलिमा फसाहतुलकलाम और फसाहतुलमतकलम इसी तरह बलावतुलकलाम बलागतुलमतकलम ये क्या चीज़ें हैं अच्छा ये बताओ ये जो हैं ये मुकदमतम से ताल्लुक़ रखते हैं मुकदमतल किताब से मुकदमतल किताब लेकिन वो चीज़ें हैं जिनका फ़न से ताल्लुक़ है और जिनसे फ़न के अंदर मखसूस के अंदर नफ़ा होगा ठीक है ना मुकदम किताब ताल्लुक़ नहीं रखती है तो कहते हैं कि मुकदमे के अंदर यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को बयान किया जाएगा कोई फसाद बलावत वगैरह की तारीख को बयान किया जाएगा और यहाँ मुकदमा यहाँ फसाहत और बलागत के माना को बयान करने के लिए और इल्म इल्म बलागत के इल्म मानी और इल्म बयान और जो उसके मुनासिब यानी इल्म बदीर में मुनहसर होने को बतलाने के लिए है होने को बयान करने के लिए है कि इसके अंदर मुनहसर है अब वमाई मुजालिका और जो उसके मुनासिब है क्या मतलब इससे इल्म बदीर नीचे लिखा हुआ वला वजह इर्तबातिल मकासदी और मकासद का रब्त जोड़ ताल्लुक़ मुर्तबित होना की वजह वलायफ़ा वजहबाद मकासद और मकासद के मुर्तबित होने की वजह इसके साथ मक्फी नहीं है पोशीदा नहीं है क्या मतलब यानी मकासद का ताल्लुक इनके साथ है किनके साथ अरे किनके साथ अभी बताया तो फसाद बलागत इल्म मानी के बयान इनकी तारीफात जो हैं इनके साथ ताल्लुक है ना मकसूद का ये कह रहे मक्फी नहीं है और सब मक्फी हो गया मकासद के मकासद के मुरतबत होने की वजह जुड़ने की वजह ताल्लुक की वजह इसके साथ किनके साथ यही फसात और बलागत की तारीफ वगैरह जो है इनके साथ इनका ताल्लुक है ये कोई ऐसी मखफी चीज़ नहीं है जिसको बताने की ज़रूरत हो ऐसा में क्या बताइए अरे फसाद की तारीफ बलागत की तारीफ वगैरह इन सब का ताल्लुक बहुत गहरा है उनके साथ तो जब ये फसाद की तारीफ वगैरह मालूम होगी जब तो अलफनमानी वगैरह ये सब समझेंगे तो इसकी ताल्लुक जो है वो बिल्कुल एकदम वाज और जाहिर है असल में जो चीज़ ज़्यादा वाज होती है मक्ति नहीं होती है तो उसके अंदर आदमी उलझ जाता है जैसा कि साहिब वसल्लम ने फरमाया था नाम तहकीक हकीकती आसिर जिब्दा अरे उसकी तारीफ में इख्तलाफ क्यों हुआ कहेगी इल्म के तारीफ के अंदर जो इख्तलाफ हुआ है वो तो क्यों हुआ है इसीलिए तो क्यों मख्फी नहीं है मख्फी नहीं है तो उसके अंदर इख्तलाफ हो गया लोगों ने जो अपने अपने जहनों से तारीफा शुरू कर दी तो ऐसे ही होता है कहेंगी जहाँ पे कह देंगे लाया कि मक्फी नहीं है तो आदमी उलझ जाते हैं मैं खुद उलझा हुआ था बड़ी मुश्किल वल फरकू बैना मुकदमत व मुकदमत किताब ममना खफिया अला कबीर यहाँ से एक बात ये बयान फरमा रहे हैं मुसनफ़ा के मुकदमत और मुकदमत किताब के दरमियान फ़र्क मम्मा उन चीज़ों में से है जो ज़्यादातर लोगों पर मख्फी होता है छुपा हुआ है अरे उन चीज़ों में से जो ज़्यादातर लोगों को क्या है पोशीदा है और छुपा हुआ है अरे यहाँ तक आई बात समझ में ये तो हुई एक कलीमे की तशरी मुकदम समझे आगे चलो जरूरी है